हरतयनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर फिर चितव राम की वो राम बार बार कर दंड प्रणामा मनयस रहन कहहि मोहि रामा राम विरो कहने बोलन चलने सुमेरे सुमेरे सो चत मिलने भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें वे श्री राम जी के देखने की बोलने की चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं दुखी होते हैं प्रभु रुख देखे विनय भाखी चले वो हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपि पहुचाए भाई न सहित भरत तब सुग्रीव चरण गहिला भाति विनय की रघु पति पद सेवा पतिपद चरण चरणं देवा किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा हे देव दस कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा पुण्यपुञ्ज तुम्ह पवन कुमारा सेवभुजाये कृ अस कहि कपि सब चले तुरन्ता अङ्गद कहे सुनहु हनुमन्ता कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोर बार बार रघुलाय कहे सुरत कराय मोर अस कही चले वो बार सुत फिर आय हनुमंत तासु प्रीत प्रभु सन कहे मगन भये भगवंत कुल सहु चाहि कठोरयते कोमल कुसुमहु चाहे चित्त खगेश राम कर समुझि पर कहु का मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगत चले तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए कागभूषण जी कहते हैं हे गरुण जी श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल है तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है कृपालु कृपाल बोल निसारा कृपालु लियो बोल निशारा दिन है भूषण भसन प्रसारा जाहु भवन मम सुमिरन करे हो मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो, मम सखा भरत भ्राता सदा रहे हो पूरे, आवत जाता बचन सुनत जा सुख भारे परे चरण भरी लोचन बारी फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए फिर कहा अब तुम भी घर जाओ वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो अयोध्या में सदा आते जाते रहना यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा चरण नली नरे गृह आवा प्रभु स्वभाव परी जननी सुनावा रघुपति चरित देख पूर्वासे पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सो का बयरुन कर का हुसन कोए राम प्रताप विषमता खोई फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए उनके सारे शोक जाते रहे कोई किसी से वैर नहीं करता श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग ही सदा सुख ही नहीं भय सो कन रोग सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं उन्हें न किसी बात का भय है न शोक है और न कोई रोग ही सताता है